वेलिंगटन में बने हुए भारत के एम्बेसी में रहते हुए विक्रांत को पांच दिन हो गए थे वो इंडियन एम्बेसी के ऑफिस में बैठकर आराम फरमा रहा था भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की एक टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी और ये लोग न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से बात करके जल्द से जल्द विक्रांत का मैटर सॉल्व करके केस को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे विक्रांत ने पहले ही गन ड्रोन के कैमरे की रिकॉर्डिंग को सेव कर रखा था ऐसे में न्यूजीलैंड एम्बेसी और पुलिस के आगे उसे खुद को और स्वाति को बेकसूर साबित करने में कोई खास समस्या नहीं हुई पहले ही दिन यहाँ पहुंचकर उसने खुद को और स्वाति को इनोसेंट साबित कर दिया था विक्रांत के इंडियन एम्बेसी में सेफली पहुंचने के दूसरे दिन ही पुलिस ने उस हनी शॉप की तलाशी लेना शुरू कर दिया था पुलिस को वहां से काफी सस्पिशियस सी चीजें मिली थी सबसे पहले तो पुलिस वालों को उस शॉप से काफी सारे एक्सप्लोसिव केमिकल्स मिले थे वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामान रखा हुआ था ऐसे में अगर उस दिन उन गैंगस्टर्स ने वहां पर ग्रेनेड फेंक दिया होता तो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होना और शॉप खत्म हो जाती वो तो अच्छा हुआ विक्रांत ने जैमर टूल को एक्टिवेट कर रखा था जिससे वहां पर रिमोट बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो सका इसके बाद पुलिस को उस शॉप के बेसमेंट में काफी सारे स्टोरेज कैबिनेट बने मिले थे लेकिन वो सभी स्टोरेज कैबिनेट खुले हुए थे ऐसे में वहां से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला लेकिन बेसमेंट में ही एक कोने में एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था इस रेफ्रिजरेटर में शायद हनी से बने केक आदि को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस रेफ्रिजरेटर में तीन डेड बॉडी रखी हुई थी उन डेड बॉडीज को देखकर साफ पता लग रहा था कि उन्हें काफी दिनों से वहां पर छुपा कर रखा गया था इन तीनों लाशों के सिर में शूट किया गया था सभी की हत्या गोली मारकर की गई थी पुलिस ने जब इन तीनों डेड बॉडीज की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि ये तीनों डेड बॉडी शॉप के असली मालिकों की हैं। स्पेशली उस फीमेल का भी मर्डर किया जा चुका था जो कि इस शॉप की मेन मालिक थी बाकी के दो लोग तो शॉप में काम करने वाले वर्कर्स थे विक्रांत ने शॉप में ब्लास्ट होने से रोककर काफी एविडेंस सेव कर लिया था पुलिस ने शॉप के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जब ध्यान से देखा तो फिर उस थाईलैंड वाली लड़की का भी सारा राज खुल उठा पुलिस को क्लियरली पता लग चुका था कि आखिर उस थाईलैंड वाली लड़की के साथ क्या हुआ था दरअसल उस हनी शॉप के मालिक और वहां पर काम करने वाले दोनों वर्कर्स का मर्डर उन्हीं गैंगस्टर्स ने किया था ये चीज भी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिख रही थी उन लोगों ने शॉप के भीतर मौजूद तीनों लोगों के माथे में गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था इसके बाद उन तीनों की लाश नीचे बेसमेंट में ले जाने लगे लेकिन जब वो लोग ये काम कर रहे थे तभी एक 19-20 साल की लड़की अपने हाथों में मोटी सी नोटबुक और पेन लेकर शॉप के भीतर दाखिल हुई शॉप के भीतर पहुंचते ही उसकी नजर उन तीनों गैंगस्टर्स पर पड़ी और उनके हाथ में गन देकर वो लड़की काफी घबरा उठी इसके बाद जब उसने खुद के सामने तीन लाश देखी तो फिर वो चीखते हुए भागने लगी लेकिन तब तक उन लोगों ने उस थाईलैंड वाली लड़की को पकड़ लिया और उसका भी खून कर दिया कुल मिलाकर वो लड़की बिना किसी गलती के मार दी गई उसे उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला इसके बाद विक्रांत और स्वाति भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की तलाश में उस शॉप पर पहुंचे जिस वजह से उन लोगों ने विक्रांत और स्वाति को उस थाईलैंड वाली लड़की के मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया विक्रांत ने सर्विलांस वीडियो की टाइमिंग चेक की तो उसे पता लगा कि जिस दिन नैना लैंडिंग आइलैंड से निकली थी उसके अगले दिन ही थाईलैंड वाली लड़की का मर्डर हुआ था इसका मतलब ये था कि एक दिन पहले जब नैना उस शॉप पर गई थी तो उसकी मुलाकात शॉप की असली मालकिन और वहां पर काम करने वाले वर्कर्स से हुई थी यानी कि तब नैना की मुलाकात उन गैंगस्टर से नहीं हुई थी ये भी क्लियर था कि शॉप के स्टाफ मेंबर का मर्डर नैना ने नहीं किया था नैना उस शॉप में कोई इम्पोर्टेंट चीज लेने के लिए गई थी शॉप के नीचे बेसमेंट में काफी सारी चीजें स्टोर की गई थी हो सकता है कि नैना वहां से कुछ लेने के लिए गई हो और ये भी है कि नैना वहां से जो कुछ भी ले गई थी वो काफी इम्पोर्टेंट चीज थी विक्रांत ने वीडियो में उस पार्ट को भी ध्यान से देखा जब नैना वहां से बाहर निकल रही थी लेकिन उस वक्त नैना के हाथ में कुछ नजर नहीं आ रहा था इसका मतलब ये था कि अगर नैना ने हनी शॉप से कुछ लिया भी था तो वो साइज में ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी वरना सर्विलांस वीडियो में तो वो चीज जरूर नजर आ जाती नैना के वहां से जाने के बाद उन गैंगस्टर्स को कुछ पता चला होगा और फिर वो उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पहुंच गए इसके बाद उन लोगों ने इस शॉप में काम करने वाले लोगों का मर्डर कर दिया अगर ऐसा हुआ है तो फिर शॉप के बेसमेंट में बने स्टोरेज कैबिनेट के लॉक को भी उन लोगों ने तोड़ दिया होगा और फिर उस कैबिनेट में रखी चीजों को सूटकेस में पैक कर दिया होगा बाद में वो लोग उसी सूटकेस को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंत में वो सूटकेस विक्रांत के हाथ में पहुंच चुका था जब पहली बार विक्रांत ने उन गैंगस्टर्स के हाथ में वो सूटकेस देखा था तो उसे लगा था कि जरूर इस सूटकेस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छुपाकर रखी गई होंगी लेकिन जब वहां जंगल से सूटकेस लेकर विक्रांत निकला तो उत्सुकता के मारे उसने हेलीकॉप्टर में ही इस सूटकेस को खोलकर चेक करना शुरू कर दिया जब उसने सूटकेस को खोलकर देखा तो वो दंग रह गया दरअसल उस सूटकेस में सिवाय कुछ पेपर्स फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं था सच कहें तो ये सब किसी रद्दी पेपर जैसा लग रहा था उस वक्त तो विक्रांत को इन पेपर्स का महत्व बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था लेकिन विक्रांत को इतना जरूर समझ में आ रहा था कि अगर ये गैंगस्टर सूटकेस में इस पेपर्स को लेकर घूम रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से इनका कुछ न कुछ महत्व तो होगा ही उन लोगों ने इस सूटकेस को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी जरूर इसमें कुछ न कुछ खास होगा तभी वो लोग ऐसा कर रहे थे इस वजह से विक्रांत ने इस पेपर से भरे सूटकेस को काफी संभाल के रखा था जब इंडिया से मिस्टर आशुतोष वहां पहुंच गए तब जाकर विक्रांत ने इस सूटकेस को उनके हवाले कर दिया हालांकि विक्रांत काफी बुरी तरह से फंसा हुआ था उसके ऊपर न्यूजीलैंड की पुलिस पर अटैक करने और उन पर गोली चलाने का भी आरोप था लेकिन इसके बाद भी वहां पर उसके साथ काफी अच्छा बिहेव हो रहा था उसके खाने पीने से लेकर आराम करने का इंतजाम तक सब कुछ टॉप क्लास था विक्रांत को यह चीज काफी हैरान कर रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है इतनी खातिरदारी तो किसी चीफ गेस्ट की भी नहीं की जाती जितना विक्रांत और स्वाति का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा था जिस तरह का काम यहाँ पर विक्रांत ने न्यूजीलैंड पुलिस के साथ किया था ऐसी सिचुएशन में अगर विक्रांत को मिस्टर आशुतोष सोनी और इंडियन एम्बेसी का सहारा ना मिला होता तो अब तक उसे या तो गोली मार दी गई होती या फिर वो न्यूजीलैंड की किसी जेल में सड़ रहा होता लेकिन ना जाने क्यों इस वक्त ना सिर्फ इंडियन एम्बेसी वाले बल्कि न्यूजीलैंड के भी ऑफिसर उसका बड़ा ख्याल रख रहे थे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक विक्रांत को कोई भी परेशानी नहीं थी यहाँ तक कि उसके साथ ही स्वाति को भी ऐसी ही रॉयल ट्रीटमेंट दी जा रही थी यहाँ तक कि विक्रांत जब इंडिया फोन करके डिवीजन चीफ मैडम से बात करता था या फिर मिस्टर आशुतोष सोनी से बात करता था तब वो लोग भी विक्रांत को सिर्फ आराम करने के लिए कहते थे उन्होंने विक्रांत को किसी भी चीज की टेंशन ना लेने के लिए कह रखा था पांच दिन तक विक्रांत और स्वाति वेलिंगटन में मौजूद इंडियन एम्बेसी के ऑफिस में किसी वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीटमेंट लेते रहे विक्रांत काफी कंफ्यूज था उसे ना जाने क्यों कुछ गड़बड़ होने का शक हो रहा था वरना कोई भी देश अपने यहाँ क्राइम करने वाले किसी विदेशी को इतने अच्छे से भला क्यों रखेगा जो कुछ उसने किया था उसके लिए उसे अभी जेल में होना चाहिए था लेकिन इसके उलट अभी वो एम्बेसी के भीतर बॉस की तरह रह रहा था ये अम्बेसी में आने के पांचवें दिन की बात है विक्रांत बड़ी गंभीरता से इस बारे में विचार करते हुए कॉफी पी रहा था तभी उसे एम्बेसी के एंट्रेंस गेट पर कुछ लोग अंदर आते हुए दिखाई पड़े फॉरेन मिनिस्ट्री से मिस्टर आशुतोष सोनी गुरुओं को लीड करते हुए बड़े चले आ रहे थे उनके पीछे पीछे और भी कई सारे ऑफिसर सूट और टाई में मुस्तैदी के साथ चले आ रहे थे उनमें से कुछ ऑफिसर्स को विक्रांत पहचान भी रहा था क्योंकि उसने उन्हें पहले भी देखा हुआ था ये सभी ऑफिसर्स यहाँ न्यूजीलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं ये लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत को देखते ही तुरंत उसे इशारा करते हुए मीटिंग रूम में आने के लिए कहा विक्रांत को पता था कि मिस्टर आशुतोष निश्चित रूप से कोई न कोई न्यूज लेकर आए होंगे ऐसे में वो तुरंत ही भागता हुआ मीटिंग रूम में पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने रूम को अंदर से बंद कर दिया विक्रांत तुमने तो कमाल कर दिया सच में कमाल कर दिया भाई समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं अब क्या कहूं मिस्टर आशुतोष ने चेयर पर बैठते हुए कहा तुम जहां भी जाते हो वहां कुछ ना कुछ कांड जरूर होता है यहाँ तक कि यहाँ न्यूजीलैंड में विदेशी जमीन पर भी तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया है